कहो खुशकी और समंदर की तारीकियों से उस वक्त कौन तुम्हें नजात देता है जब तुम उसे गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारते हो और ये कहते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया तो हम जरूर बिल जरूर शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे